सफर आरजे सनी के साथ आगे भी हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास गाने आज जाने जिद ना की ना करो फिफ्टीज एंड सिक्सटीज के ओल्ड मेलोडीज जो आपके दिल व दिमाग को ताजगी देगा सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर भाई और बहनों आइए आप सभी का स्वागत है खाबो के सफर इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका हम सफर सनी जी हाँ आज भी हम लोग फिफ्टीज़ एंड सिक्सटीज़ के बहुत ही खूबसूरत गाने आपको सुनाने वाले हैं कहते हैं कि ऐसा तुम जब भी आना सबके लिए बस खुशियाँ लाना हर चेहरे पर हंसी सजाना हर आंगन में फूल खिलाना आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान कलाकार हैं विभा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सोनी आपको और हमारे सब सुनने वाले लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी विभा जी बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपने भावनाओं के साथ प्यार के साथ हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ जाती हैं हमारे जो श्रोता है वो भी आपके लिए मैसेज करते हैं और कहते हैं कि विभा जी की आवाज़ बड़ी प्यारी है और वो बहुत ही मीठा बोलती हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है जब आपको कमेंट मिलते हैं और साथ में मुझे भी लगता है कि एक लाइन आगे लिखते हैं सन्नी आप भी अच्छा बोलते हैं <laughs> तो आइए जीवन के हर मुश्किल प्रश्न का जीवन में ही हल है और उसी में मिलता है बस हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना है तो चलिए जब भी मुश्किल लगे तो प्रभु का हाथ पकड़ के आगे तर जाना क्योंकि उनके ही हाथ में तर जाने की या पार लगाने की शक्ति है तो आइए विभा जी कार्यक्रम की शुरुआत में आप कौन सा गीत सुनाने वाले हैं हमारे सभी श्रोताओं को सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं को थैंक यू बोलूँगी टेस्ट करने के लिए और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए और अब पहला गीत मैं लेके आई हूँ ये थोड़ा दर्द भरा गीत है हम्म, हम्म, हम्म। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मुकेश जी का गाया हुआ गाना है वो दर्द से लिपटा हुआ गाना है राज कपूर और नूतन पे फिल्म आया गया है इन्होंने अपनी प्रेमिका को अकेले छोड़ देने के लिए संदेश के साथ हल्की सी शिकायत भी की है हम्म, और कहा है हम्म। तुम्हें अपना कहने की चाह में कभी हो सके ना हम किसी के हम्म, बहुत ही सुंदर लिरिक्स हैं बहुत मजा आएगा सुनने में तो आइए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है कन्हैया इस एल्बम से जो 1960 की बात अगर कहें तो भी शायद 60 के पहले वाला ये फिल्म है जो कन्हैया फिल्म रिलीज़ हुआ था और भगवान कृष्ण कन्हैया की भक्ति पर आधारित इस फिल्म में जो है एक जो है व्यक्ति की शादी की तैयारा तैयारियाँ चल रही होती हैं पर उसे नशे में देख सभी जो है एक मुश्किल में आ जाते हैं और फिर चीज़ें थोड़ी सी तहस नहस हो जाती हैं तो ओम प्रकाश साहब ने इसका डायरेक्शन दिया था और शंकर जयकिशन का संगीत इसके निर्माता रहे संत सिंह जी और इस फिल्म के कलाकार जैसे कि राज कपूर नूतन ललिता पवार थे तो आइए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए <laughs> तो चलिए शैलेंद्र साहब का लिखा मुकेश का गाया शंकर जय किशन साहब का संगीत से सजा कन्हैया इस एल्बम का ये गाना अभी आपके लिए खुश रहो खुशियाँ बांटो तुमसे कुछ भी ना चाहिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं उसे मेरे सामने तोड़ दो उसे मेरे सामने मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए कभी मुस्कुराई थी प्यार में मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मुझे तुमसे उसे क्यों ना शाख से तोड़ दो मुझे क्यों ना शाख से तोड़ दो मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मुझे मेरे हाल मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम खुश रहो खुशियाँ बांटो आइए आगे बढ़ते हैं खाबों के सफ़र इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ आज के खास मेहमान विभाजी हैं और कहते हैं पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु जगत में भीड़ भारी है कहीं मैं खो न जाऊं जिम्मेदारी ये तुम्हारी है विभा जी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना मैं फिर से प्यार और मस्ती भरा लेके आई हूँ मुझको अपने गले लगा लो ए मेरे हमराही इसमें राजेंद्र कुमार पे फिल्म आया हुआ ये गाना है हम्म, हम्म, और हम्म, इसमें बहुत ही प्यार एटमोसफियर बहुत प्यारा है दो प्यार करने वाले अपनी मस्ती में एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं प्यार में ही डूब जाने के एटमोसफियर के साथ प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और गुनगुना रहे हैं कुल मिला के मस्ती प्यार अपनापन केयर का एटमोसफियर है और हम्म। बड़ा प्यारा जी जी जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है हम इस एल्बम का है गाना ये 1963 में रिलीज हुई थी और ये गाना जो है आपने जो बताया उसे लिखा है मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये गाना है और हमराही इस एल्बम को जो है 1963 में रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म के कलाकार थे राजेंद्र कुमार जमुना महमूद अली ललिता पवार पर पिक्चराइज किया गया था तो आइए ये खूबसूरत गाना अभी आप सबके लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज़ खुश रहो खुशियाँ बांटो कितना प्यार है को संभालो ऐ मेरे हमराही तुमको क्या बतला तुम अपने गले लगा लो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ पर खाबों का सफर जी हाँ किसी ने भगवान से पूछा सवेरा तो रोज होता है परंतु सुप्रभात क्या होता है <laughs> भगवान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कहा जीवन में जिस दिन आप अपने अंदर के बुराइयों को समाप्त कर उच्च विचार तथा अपनी आत्मा को शुद्ध करके दिन की शुरुआत करते हो वही सुप्रभात होता है <laughs> क्या बात क्या बात आइए आगे बढ़ते हैं विभा जी नेक्स्ट कौन सा गाना है आपके पास अगला गाना मैं लेके आई हूँ धर्मेंद्र पर फिल्माया हुआ ये गाना है हम्म। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज ना दो जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साजना ये थोड़ा सैड सॉन्ग है दिल में दुख देने वाला भी है पर वर्डिंग बहुत सुंदर है अपनी प्रेमिका को भूल जाने की कोशिश में उनकी यादों को कहीं दूर चले जाने की फरियाद कर रहे हैं और कह रहे हैं रोशनी हो ना सकी दिल भी जलाया मैंने हम्म। तुमको भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये गीत कहीं ना कहीं पसंद तो आएगा ही और ये गाना जो है मुझको इस रात की तन्हाई में दिल भी तेरा हम भी तेरे जो फिल्म आई थी उस फिल्म का ये गाना है और शमीम जयपुरी साहब ने इस गाने को लिखा था मुकेश जी ने और लता जी ने इस गीत को गाया है तो आइए इस फिल्म का कहानी जो है थोड़ी सी अलग है दो दोस्तों की कहानी है और एक की शादी हो जाती है तो पूरी कहानी में एक नया क्लाइमैक्स आ जाता है एक बदलाव आ जाता है तो अर्जुन हिंगोरानी साहब के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है धर्मेंद्र उषा किरण बलराज सहानी इन पर पिक्चराइज किया गया है कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सजा अभी अगला गाना आपके लिए जी हाँ खुश रहो खुशियाँ बांटो सात दशमलव आठ एफ एम खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम पर खाबों का सफर आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग पुराने गाने सुनते हैं जैसे अभी आपने जो गाना सुना मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो कभी कभी तन्हाई में हम फील करते हैं कि हमें सिर्फ खामोश रहना है कोई बात न हो तो मुझे एक एक्सपीरियंस इस चीज़ का है कि जब भी हमारे पास कुछ मुश्किलें आती है तनाव आता है तो कुछ देर के लिए आप इन बातों से इन लोगों से थोड़ी देर के लिए अपने आप को किनारा कर लेना चाहिए जब आप उस स्पेस में जाते हो जहाँ पर कोई नहीं हो सिर्फ आप हो और आपकी आत्मा हो तो वो जो तनहा है तन्हाई है वो ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर एक पीस फील करते हैं और उसके माध्यम से आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है और फिर से जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो एक नई फीलिंग के साथ आप करते हैं तो इसीलिए जब भी मुश्किलें आती हैं तो उनसे लड़ने के बजाय या उसके बारे में सोचना और उसके बारे में डिस्कशन करना या दूसरे के साथ उसके लिए बोलना ये कम करके अगर आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं तो तन्हाई अपने आप ख़त्म हो जाती है तो आइए आगे बढ़ते हैं विभा जी कैसे हैं आप जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी बातों से मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ <laughs> कई बार अपने के साथ रहना अपने आप से मिलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जी, जी और जी, हमें अपने से ही बात करके कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कई गुत्थियां भी सुलझ जाती हैं क्योंकि हम्म, हम्म, हम्म। हमने ही उनको उलझाया हुआ है जिसको हमें करना है जी तो आइए आगे बढ़ते हुए अगला गाना कौन सा है आपके पास हमारे श्रोताओं के लिए ये थोड़ा नशे का गाना है बेहोशी पागलपन से मिक्स गाना है मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ अच्छा <laughs> राज कपूर जी अपनी पूरी एक्टिंग उनकी जैसे वो करते हैं उनके पूरे नशे में हैं और हम्म, हम्म, हम्म। इसमें शरारतें कर रहे हैं और जैसे इस गाने के बोल भी हैं मुझको यारो माफ करना और वो इधर उधर लड़खड़ाते हुए बार बार माफी भी मांग रहे हैं और ये नशा है इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाने का नशा है कभी वहशीपन का तो कभी सच्चाई को छुपाने का और कभी सच्चाई को खोल देने का तो कुल मिला के इसमें चुलबुलापन भी है और संदेश भी है अच्छा अच्छा बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है मैं नशे में हूँ इस एल्बम का ये गाना है जो 1959 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के कलाकार थे मुंशी तोताराम और रजनी खन्ना और कुंदन लाल जी इस फिल्म के कलाकार रहे और बहुत ही अच्छा जो है पुराना जो फिल्म है उसमें कहीं ना कहीं एक स्टोरी होती है जो हम सभी को खींचती है तो वाई इस फिल्म का एक गाना है जिसे रीवा जी ने याद कराया अभी और ये गाना भी अपने आप में खास जो है एक फील देता है मैं नशे में हूँ इस एल्बम का जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा है मुकेश जी ने गाया है शंकर जयकिशन का संगीत बद ये गाना आपके लिए खुश रहो खुशियाँ बांटो मुजाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर या वो जगह बता दे जहां पर खुदा न हो मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ अब तो मुमकिन है बहकना मैं नशे में हूँ मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ कल की यादें मिट रही है दर्द भी है कम अब जरा आराम से आ जा रहा है दम अरे आ जा रहा है दम कम है अब दिल का तड़पना मैं नशे में हूँ अब तो मुमकिन है बहकना मैं नशे में हूँ मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ कब की उठ गई महफिल मैं कहाँ जाऊँ नहीं कोई मेरी मंजिल नहीं कोई मेरी मंजिल दो कदम मुश्किल है चलना मैं नशे में हूँ मुझको यारो माफ करना मैं नशे में बात और छल के हैं कुछ प्याले पर न जाने क्या कहेंगे ये जहां वाले कहेंगे ये जहां वाले तुम बस इतना याद रखना मैं नशे में हूँ अब तो मुमकिन है बहकना मैं नशे में हूँ मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ कल की यादें मिट रही है दर्द भी है कम अब जरा आराम से आ जा रहा है दम अरे आ जा रहा है दम कम है अब दिल का तड़पना मैं नशे में हूँ अब तो मुमकिन है बहकना मैं नशे में हूँ मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूँ आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ पर जी हाँ मुझको माफ करना <laughs> मैं नशे में हूँ तो आइए दोस्तों ये गाना जैसे ही आप सुनते हैं कहीं ना कहीं कुछ नशा करने के बाद भी उसकी फीलिंग जो है उसके साथ रहती है वो उतरता नहीं लेकिन वो उसके साथ जीना शुरू कर देता है इसीलिए माफ़ी मांगना शुरू कर देता है तो आइए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना अब आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ विभा जी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना आप सनी आप अब बच्चा बनने के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि ये जो गाना मैं लेके आई हूँ <laughs> इस गाने में बड़ा चुलबुलापन है जैसे <laughs> किशोर कुमार जी हमेशा ही एक चुलबुलापन एक हर गाने में एक नटखटपन ले आते थे उस उनका उनकी शरारतें उनकी मस्ती गाने में जोश देती हैं ये गाने के बोल हैं मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा कोई कहे चांद कोई आंख का तारा और बहुत ही खूबसूरत गाना है इसमें किशोर कुमार जी एक बच्चे को इमेजिन करते हुए बच्चा है नहीं वहाँ इमेजिन हम्म, हम्म, हम्म, करते हैं जो एक बच्चा होगा घर में तो वो कैसा होगा तो ये मुझे उन दिनों की याद में ले जाता है जैसे मैं अपने बच्चे के साथ खेलती थी तो कैसे हम खूब उधम मचाते थे हम्म, हम्म। और उस शोर का सारा ब्लेम बच्चे ले जाते हैं और शरारत हम कर रहे होते हैं तो वो <laughs> देखने में मस्ती है और किशोर कुमार की तोतली आवाज में ये गाना मुझे बहुत रुबाता है <laughs> चलिए ऋषिकेश मुखार्जी साहब का डायरेक्शन में बना ये फिल्म मुसाफिर का है जो 1957 में रिलीज हुई थी सलील चौधरी साहब ने इसे संगीत से सजाया था ऋषिकेश मुखार्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था किशोर कुमार दिलीप कुमार सुचित्रा सेन उषा के पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म मुसाफिर का जो गाना आपने याद कराया है तो चलिए इस गाने को हम लोग सुनते हैं अभी जिसे सैलंदर साहब ने लिखा है किशोर दा ने बड़े चुलबुले आवाज़ में गाया है सलील चौधरी का संगीत से सजा अभी आपके लिए खुश रहो खुशिया बांटो चुन्नू मुन्नू मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा भाभी सुनो तो क्या कविता मिली है अभी कविता सुनने का वक्त नहीं देखो ना कितना काम बाकी है और ये काम नहीं तुम समझती कवि लोग मुफ्त की हाँकते हैं चलो छोड़ो भानु अभी हम्म। बहुत काम है तुम यहाँ बैठो पहले मेरी कविता सुनो हाँ कविता का शीर्षक है मुन्ना समझ लो तुम्हारा जो बेटा मेरा मतलब मेरा जो भतीजा उसका नाम है मुन्ना और तुम हो उसकी माँ अब सुनो लला लला मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा कोई कहे चांद कोई आंख का तारा कोई कहे चांद कोई आंख का तारा हंसे तो भला लगे रोए तो भला लगे हमी को उसके बिना कुछ भी अच्छा न लगे हंसे तो भला लगे रोए तो भला लगे हमी को उसके बिना खुद भी अच्छा न लगे जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल तुमको लगे मेरी उम्र जियो मेरे लाल मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा कोई कहे चांद कोई आंख का तारा एक दिन वो माँ से बोला क्यों फूकती है चूल्हा एक दिन वो माँ से बोला क्यों फूकती है चूल्हा क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें काहे कले लोज लोज तू ये झमेला अम्मी को आई हंसी हंस के वो कहने लगी लाल मेहनत के बिना रोटी किस घर में पकी जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल ओ जियो जियो जियो जियो जियो मेरे लाल मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा मुन्ना बड़ा प्यारा कमी का दुलारा कोई कहे चांद कोई आंख का तारा एक दिन यो छुपा मुन्ना ढूंढे न मिला मुन्ना एक दिन यो छुपा मुन्ना ढूंढे न मिला मुन्ना बिस्तर के नीचे कुर्सियों के पीछे देखा कोना कोना सबसे सांस खींचे बिस्तर के नीचे कुर्सियों के पीछे देखा कोना कोना सबसे सांस खींचे कहाँ गया कैसे गया सबसे परेशान सारा जग ढूंढ थके नहीं मुन्ना न मिला मिला तो प्यार भरी माँ की आंखों में मिला सारा जग ढूंढ थके कहीं मुन्ना न मिला मिला तो प्यार भरी माँ की आंखों में मिला जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल ओ तुमको लगे मेरी उम्र जियो मेरे लाल मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा कोई कहे चांद कोई आंख का तारा कोई कहे चांद कोई आंख का तारा जब सांझ मुस्कुराए पश्चिम ने रंग उड़ाए मुन्ने को लेके अम्मी दरवाजे पे आ जाए आते होंगे बाबा मुन्ने की मिठाई लाते होंगे बाबा नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ पर खाबो का सफर <laughs> हमारे साथ आज के इस शो को सजाने के लिए भी बाजी है जिनसे बातें हो रही हैं और जिनकी बहुत ही प्यारे प्यारे गानों का कलेक्शन भी उनके पास है जो हमें सुना रही हैं तो मुझे स्वामी जी की एक बात याद आती है कि स्वामी कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत दोनों ही मेरे पक्ष में है क्योंकि अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ और अगर तुम मुझे मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूँ <laughs> <laughs> पर रहूंगा आपके पास ही किसी भी हालत में <laughs> तो चलिए बहुत ही प्यारी बात लगी मुझे स्वामी जी की तो मैंने सुना और विभा जी अगला गाना कौन सा है आपके पास ये गाना ये स्वामी जी की बात की तरह ही ये महबूब अपनी महबूबा को यकीन दिला रहे हैं यहाँ हम्म, हम्म। मुझे तुम दर से गिरा तो रहे हो अच्छा। मुझे तुम बुला ना सकोगे <laughs> इसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका को पूरी तरह से मोहब्बत का यकीन दिला रहे हैं कि उसको महबूबा कभी भूल नहीं पाएंगी तो इसमें है हम्म। किसी ने जो पूछा सब आंसुओं का बताना भी चाहो तो बताना सकोगे गीत और गज़ल में काफ़ी अंतर हो जाता है जब हम लोग इस चीज़ को समझने लगते हैं तो गज़लों में कहीं ना कहीं जीवन की गहराई चुकी होती है तो आइए मेहदी हसन साहब का ये खूबसूरत गज़ल आपके लिए अभी आप समय है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियाँ बांटो कभी भी भुला ना सकोगे मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे मुझे तुम नजर से किधर जाओगे तुम कभी नगमा बन के कभी बन के आंसू कभी नगमा बन के कभी बन के आंसू तड़पता मुझे है तरफ पाओगे तुम क्षमा जो जलाई है मेरी वफा ने बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे मुझे तुम नजर से लोगे तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे निकाहों में छाएगा गम का अंधेरा किसी ने जो पूछा सब बांसुओं का बताना बिचारू बता ना सकोगे मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे मुझे तुम नजर से आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज बहुत ही प्यारा सा गजल आपने सुना एक और गजल की तरफ मैं आपको ले चलना चाहूंगा अभी <laughs> विभा जी अगला गाना कौन सा है आपके पास ये अब मैं लेके आई हूँ बहुत ही प्यार भरा गाना है जिससे प्रेमी रजेश खन्ना नंदा को कह रहे हैं मुझसे भला ये काजल तेरा नैन बसे दिन रैन हम्म, हम्म, हम्म। ये फिल्माया गार्डन में है और प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी फिर भी जो रजेश खन्ना है उसको उनको दूरी का एहसास हो रहा है उनको ये लग रहा है कि काजल जो है वो <laughs> नैनों में ज्यादा करीब है मेरे से वो इस बात को एक अपने को इसको, इसको दूरी बता रहे हैं हम्म। और उनके प्यार की इंतहा इतनी है कि वो कह रहे हैं चाहे पवन हो चाहे किरण छूने ना दूंगा तेरा बदन बहुत ही सुंदर है जी जी जी ये गाना आपने दी ट्रेन 1970 में आई थी आनंद बख्शी साहब का लिखा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया राहुल देव बर्मन का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना है और जैसे कि आपने बताया दी ट्रेन इस एल्बम का गाना है इसमें एक कहानी छोटी सी जो है एक ईमानदार सीबीआई ऑफिसर की कहानी बताई गई है और उन्हें एक ड्यूटी मिल जाती है कि चोरों को पकड़ने का और ये जो चोर हैं ये थोड़े से अलग टाइप के होते हैं ये सभी बड़े बिजनेसमैन जैसे जाहरी होते हैं या फिर बड़े जो शोरूम्स होते हैं उन लोगों के पास ये जाते हैं और चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं और चेक जो देते हैं उस पर साइन करने के बाद वो शाही जो है गायब हो जाती है इस तरह का वो साई यूज़ किया गया पेन यूज़ किया गया है जो थोड़ी देर के बाद उसकी लिखा डिसअपियर हो जाती है यानी गुम हो जाती है और बुझ जाती है मिट जाती है तो इसका इस्तेमाल करके ये चोर लोग जो है बहुत लोगों को फंसाते हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए एक ईमानदार सीबीआई ऑफिसर की ज़रूरत होती है तो वो राजेश कन्ना को बनाते हैं तो राजेश खन्ना एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का काम इसमें निभा रहे हैं तो आइए इस फिल्म का एक गीत जो आपने अभी याद कराया है राजेश खन्ना नंदा हेलन राजेंद्र नाथ पर पिक्चराइज किया गया ये फिल्म दी ट्रेन का अभी गाना आपके लिए आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियाँ बांटो सोनिए नी सोनिए सोनिए जल तेरा प्यासे मेरे नी सोनिए सोनिए आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना कहते हैं पानी से तस्वीर कहाँ बनती है ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ ये ज़िंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है कौन किससे चाह कर दूर होता है हर कोई अपने हालतों से मजबूर होता है हम तो बस इतना जानते हैं हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोई नूर होता है अब सुना है रेडियो को मेरी आवाज चलिए आगे बढ़ते हुए विभा जी अब अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला ये आखिरी गाना है और इसमें ग्रेटिट्यूड है धन्यवाद है अपने भगवान को जो हम्म, हम्म। तो जगजीत सिंह जी ने बहुत ही प्यारे लहजे में गाया उसके वर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं हम्म, मुझ में जो कुछ अच्छा है उसका है धन्यवाद करते हुए उस भगवान का इसके लिरिक्स बड़े सुंदर हैं इसके बोल बहुत सुंदर है और जो जगजीत सिंह की आवाज है उनकी मधुरता दिल को छूती है इसमें हम्म, हम्म, हम्म, बोल है मेरी आंखें उसके नूर से रोशन है मैंने जो कुछ देखा है सब उसका है बहुत ही प्यारा सा जी बहुत ही प्यारा सा ये गज़ल आपने याद कराया है मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है <laughs> मेरा जितना चर्चा है सब उसका है उसका मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है क्या बात है तो चलिए बहुत ही खूबसूरत गज़ल आपने याद कराया है और इसी के साथ मुझे लगता है कि वक्त हो गया है हमारे श्रोताओं से इजाज़त जाने का और Vibha ji thank you so much बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन आपने सुनाए और हर कलेक्शन में कहीं ना कहीं दिल तक जो चीज़ें हैं पहुँचती हैं एक मैसेज है सब में और प्यार भी रहा आज के शो में तो चलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू और आपको भी और सभी श्रोताओं को भी मुझे सुनने का और मुझे ये मौका देने का कि मैं आप सबके साथ जुड़ पाती हूँ और सनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप बड़ी पेशेंस से बड़े ध्यान से मेरी बात भी सुनते हो और मुझे मौका भी देते हो कि मैं सबके साथ जुड़ पाऊँ <laughs> चलिए आपका प्यार इसी तरह बना रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया एंड श्रोताओं अगले एपिसोड में फिर होगी इसी तरह की कुछ नई बातें तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज़ के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा खुश रहो खुशियाँ बांटो मुझ में जो कुछ अच्छा सब उसका है मुझ में जो कुछ अच्छा सब उसका है मेरा जितना चर्चा है सब उसका है sabrımı sık मेरी आंखें उसके नूर से रोशन मेरी आंखें उसके नूर से रोशन मैंने जो कुछ देखा सब उसका है मैंने कुछ देखा है सब उसका बार में टूटा वो टूटा था जितनी बार मैं टूटा वो टूटा था इधर उधर जो बिखरा है सब उसका इधर उधर जो बिखरा सब उसका मेरा जितना चर्चा है सब उसका है मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है मेरा जितना चर्चा है सब उसका है मुझ में जो कुछ अच्छा सब उसका मेरा जितना चर्चा सब उसका